कठोपनिषद में पहले भाग का हम स्वाध्याय कर रहे हैं नचिकेता और वाजश्रवस उन दोनों के बीच के संवाद से इसका हमने प्रारंभ किया आइए कल के प्रसंग के आगे पांचवा श्लोक पढ़ते हैं बहुनाम एमी प्रथमो बहुनाम एमी मध्यम किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यत मया अद्य करिष्यति तो अब ये कहा गया ओम ओम ओम यम को उसके पिता के द्वारा कहा गया कि मैं तुम्हें यमाचार्य के पास में भेजता हूँ तो इतना सुनने के बाद अब नचिकेता यमाचार्य के पास जा रहा है और जाते हुए मार्ग में विचार कर रहा है अपने विषय में क्या विचार है उसके बहुनाम कह रहे बहुतों में से एमी प्रथमा मैं प्रथम हूँ कैसे बहुत सारे लोग संसार में हैं जिनसे मैं अधिक योग्य हूँ उनकी योग्यता मेरे से कम है और मैं कहीं उनसे श्रेष्ठ हूँ और बहु नाम बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बीच में मध्यमा मैं मध्यम श्रेणी का हूँ यानी मैं पीछे तो नहीं हूँ किसी से बहुत श्रेष्ठ लोग हैं तो उनकी तुलना में भी मैं कोई पीछे नहीं हूँ बल्कि मध्यम हूँ तो अपने विषय में उसने एक चिंतन किया तो जो मैं स्वयं ऐसा हूँ कि अत्यंत श्रेष्ठ भी नहीं हूँ और अत्यंत हीन भी नहीं हूँ बीच में हूँ मैं मध्यम योग्यता है मेरी तो अब विचार कर रहा है किम यम यमस्य कर्तव्यम कह रहे अब यमाचार्य मेरा क्या करेंगे यानी मुझसे उनको क्या प्रयोजन है जो मुझे यमाचार्य के पास भेज दिया गया अब कोई व्यक्ति हो और हमसे कहे कि जाओ हम आपको वानप्रस्थ आश्रम भेजते हैं घर में कोई व्यक्ति आपसे कहे कि जाओ रोजड़ चले जाओ मैं तुमको रोजड़ भेज रहा हूँ और पता नहीं हो कि वहाँ जाकर होता क्या है तो पहली बार जो व्यक्ति आया है वो यही विचारते रहेगा रास्ते में पता नहीं वहाँ क्या होता होगा योग शिविर कैसा होता होगा वहाँ क्या पढ़ाते होंगे क्या कराते होंगे कैसे रहते होंगे भोजन कैसा मिलता होगा क्या नियम होंगे तरह तरह की व्यक्ति विचार करता रहता है तो अब उस प्रकार की विचारधारा से थोड़ा अलग उसके विचार हैं मार्ग में जाते समय अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग विचार हो सकते हैं जिसकी भोजन में बहुत रुचि है वो क्या विचार करेगा रास्ते में पता नहीं वहाँ भोजन ठीक से मिलेगा कि नहीं मिलेगा जिसकी योग में बहुत रुचि है वो क्या विचार करेगा जैसा मैं योग सीखना चाहता हूँ वैसा वहाँ सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो व्यक्ति सुविधाओं के बिना रह नहीं पाता है वो क्या विचार करेगा ये जो सुविधाएं हैं मेरे को वो सुविधाएं वहाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी तो हर व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं होंगे ही तो ये व्यक्ति नचिकेता विचार कर रहा है यमाचार्य के विषय में कि रास्ते में जो भी होगा वहाँ जो भी सुविधाएं होंगी वहाँ भोजन जैसा भी होगा वो विचार कर रहा है आचार्य जिसके पास में भेजा गया उनका मुझसे क्या प्रयोजन होगा जो मेरे को वहाँ भेजा जा रहा है यद मैं अद्य करिष्यति वो मेरे से क्या सिद्ध करेंगे क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता ऐसा भी नहीं है और मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा भी नहीं है तो अब जब मैं सब कुछ नहीं जानता तो अवश्य कुछ ना कुछ मुझे सिखाएंगे ही क्योंकि वो आचार्य हैं और वो मुझे क्या सिखाएंगे क्या शिक्षा मुझे वहाँ मिलेगी इस प्रकार का विचार करता हुआ वो जा रहा है और वहाँ पहुँचने के बाद में क्या होता है उसका वर्णन अगले श्लोक में किया छठा श्लोक पढ़ेंगे अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे सस्यम इव मर्त्य पच्यते सस्यम इव आजायते पुनः बड़ी अच्छी बात इसमें कहीं एक उदाहरण देकर के बात कही सस्यम सस्य माने फसल कह सस्यम इव मर्त्य मर्त्य मतलब होता है मरणशील मृत्यु को प्राप्त होने वाला तो जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसकी स्थिति किस प्रकार से है सस्यम इव पच्यते जैसे फसल पकती है और पकने के बाद क्या होता है सस्यम इव आ जायते पकने का मतलब वो समाप्त हो उसका समाप्त हो जाना उसका आयु जो है वो समाप्त हो जाना पक जाने का मतलब ये है और आ जायते यानी उत्पन्न हो जाना तो जैसे इस संसार में फसलें उगती रहती हैं समाप्त होती रहती हैं वैसे ही मरणशील मनुष्य क्या होता है कहते हैं अनुपश्च था पूर्वे जैसे पहले बहुत सारे हुए हैं और आगे बहुत सारे होते रहेंगे तो मनु हमारी स्थिति कैसी है तुलना किसके साथ में की फसल के साथ में की कि बहुत बार पैदा हो गए फसल की तरह और फसल की तरह बहुत बार समाप्त हो गए तो ऐसा ही होता रहता है हमारे साथ में यानी हमारी स्थिति भी फसलों की तरह ही है उसके साथ में अपने जीवन की तुलना करके देखें तो एक वैराग्य की स्थिति को या वास्तविक जो स्थिति है उसको समझने में सहयोग मिलेगा अनित्यता को हम अन्य विषयों में तो आसानी के साथ में देख पाते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ भी अनित्यता को देख पाते हैं जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं जिसकी बहुत छोटी आयु होती है दो दिन चार दिन दो महीने चार महीने उस वस्तु की अनित्यता आराम से दिखती है कि ये तो दो चार महीने में ख़त्म होने वाली चीज़ है या कोई मनुष्य भी ऐसा है जिसकी आयुष्य दो चार महीने शेष है तो उसकी हाँ। अनित्यता भी साफ दिखती है कि बस दो चार महीने हैं और नहीं है बहुत लंबा काल किसी का हो तो वो अनित्य है ऐसा समझ में कम आता है कोई बहुत वृद्ध अति वृद्ध हो गया है तो उसको समझ में आता है कि ये तो अब अनित्य है लेकिन एकदम युवावस्था में है तो वहाँ पर ये चीज़ कम समझ में आती है कि ये भी अनित्य ही है तो ऐसी स्थिति है और ये विचार वो नचिकेता जाते हुए कर रहा है कि ये तो जीवन ऐसा ही है यानी यमाचार्य मेरे साथ जो करेंगे सो करेंगे और जैसा भी मेरे को शिक्षा देंगे वो ठीक है लेकिन उस नचिकेता के अंदर देखिए कैसे वैराग्य के विचार हैं कुमारावस्था है पहले भी कई सारे गुणों का वर्णन किया गया और उसके वैराग्य की स्थिति को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवन की अनित्यता को वो देख पा रहा है वो ये समझ पा रहा है कि मेरा जीवन हमेशा रहने वाला नहीं है मैं अनित्य हूँ और इस कारण से जो प्रारंभ के श्लोकों में उसकी निर्भीकता का सत्यता का धर्मनिष्ठता का वर्णन किया गया वो सब क्यों है क्योंकि वो जीवन को अनित्य देख पाता है जो व्यक्ति ये समझ पाता है कि मैं हमेशा नहीं हूँ वो धर्मनिष्ठ आसानी के साथ में हो पाता है उसकी दृढ़ताएं धर्म पर बड़ी सहजता से हो पाती हैं क्योंकि धर्म से पृथक व्यक्ति कब होता है जब वो देखता है कि अभी तो मैं अधर्म कर लेता हूँ बाद में जब अवसर और आएंगे तो धर्म कर ही लूंगा जीवन बहुत लंबा है धर्म करने के अवसर बहुत आएंगे योगाभ्यास के अवसर और आते ही रहेंगे ध्यान स्वाध्याय उपासना सारा जीवन पड़ा है करते रहेंगे पढ़ते रहेंगे बहुत जीवन शेष है अभी तो तो बहुत सारा जीवन बहुत वर्ष है जीवन के ऐसा विचारता हुआ व्यक्ति शुभ कर्मों को टालता रहता है वो अशुभ कर्मों को नहीं टालता अशुभ कर्म तो तुरंत कर लेने चाहिए पता नहीं फिर अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक चोरी करने वाला व्यक्ति है और उसको चोरी करने का अवसर मिले तो नहीं सोचता कल कर लूंगा वो सोचता है अभी कर लूँ पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा लेकिन धर्म के विषय में ये विचार व्यक्ति के आ सकते हैं यज्ञ अभी कर लो कि कल कर लो उसके पास में एक ऑप्शन रहता है कि अभी या कल विचार लेता है चोर नहीं विचारता अभी करो कि कल विचारो अभी कर लेता हूँ कल पता नहीं अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि वो अवसर की अनित्यता उसको दिखती है लेकिन शुभ कर्मों में हमेशा अवसर के विषय में ऐसे विचार होते हो कि अंतिम अवसर है पता नहीं कल मिलेगा नहीं मिलेगा ये जो विचार लेता है वो तो करता है कि नहीं आज ही करना है बस कल मालूम नहीं मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा यज्ञ होगा कि नहीं होगा साधन होंगे कि नहीं होंगे आज ही कर लेना है बस तो वो विचार रहा है रास्ते में जाते हुए अपनी मानसिकता को बना रहा है कि यमाचार्य के पास में जाना है और पिता से तो संबंध थोड़े मधुर रहे नहीं धर्म पे वो निष्ठ नहीं थे और ये संसार ऐसा ही है आज मैं हूँ कल नहीं हूँ और मेरे अलावा और भी जो लोग हैं सबके विषय में विचार रहा है कि वो सारे संसार के लोग ऐसे ही हैं चाहे मेरे पिता हों चाहे कोई हो वो आज है कल नहीं है पता नहीं है और ऐसा विचारता हुआ वो चला जा रहा है ये मार्ग के उसके विचार बताए जा रहे हैं कि उसके मन में किस प्रकार की उथल पुथल चल रही है और एक वैराग्यवान व्यक्ति के लक्षण हैं एक योगाभ्यास जो करने जा रहा है व्यक्ति उसके लक्षण हैं वो अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रहा होता है और शिक्षा भी तभी वास्तव में फलदायी होती है परिणाम को उत्पन्न करने वाली होती है जब व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से उस काम के लिए तैयार कर लेता है और स्वयं वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो कितना भी फिर कोई भी सिखाए वो विद्या उसको प्राप्त नहीं होती है मौन का नियम है अब एक शिवरात्रि मेरे पास में रोज आते हैं दो दिन से अब मौन का नियम है तो उसमें एक अवकाश क्या दिया हुआ है कि बहुत आवश्यक काम हो तो आप लिख करके बात कर लीजिए लिख करके दे दीजिए अब वो शिवरात्रि आते हैं मेरे पास पूरा एक बड़ा फुल स्केप का पेज लिख करके लाते हैं अब मैं कुछ जवाब देता हूं तो फिर वो दूसरा पेज भर के दे देते हैं तो ये मौन मौन क्या है केवल वाणी का प्रयोग नहीं करना थोड़ी मौन कहलाता है मौन है कि भीतर से वो सांसारिक विचारधारा को थोड़ा शांत करना है वो तो एक दूसरा उपाय हो गया अपने विचार को अभिव्यक्त करने का एक उपाय है कि वाणी से करना है और दूसरा है कि हाथ से करना है दिन भर आप लेखन में ही लगे रहो तो वो मौन किस बात का है तो अब यहाँ पर ये जो बात उसकी मनो जो मानसिकता है व्यक्ति की तो योगाभ्यास सीखने जा रहा है उसकी मानसिकता है तो जब तक वो भीतर से अपने आप को तैयार नहीं करेगा तब तक नियम का जो पालन है या विद्या है वातावरण है सहयोगी है जो भी चीज़ें हैं वो उन्नति करने में सहयोगी कभी नहीं हो सकती हैं इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं की जो एक मनस्थिति है उसको बदलने की आवश्यकता है कि मैं अपनी मनस्थिति को ठीक करूं उसको वैराग्य की भावना से युक्त करूं मौन का नियम क्यों है शांत रहे बोले नहीं तो नहीं बोले तो क्या करें नहीं बोले तो ये करें कि फिर हम भीतर से अपने आप को इस प्रकार के विचारों से युक्त करने का प्रयास करते रहें यही विचार जो यहाँ बताए जा रहे हैं कि संसार के विषय में जो वो विचार हैं कि हम हमारे जीवन फसल की तरह है पक गई फिर उत्पन्न हुई फिर पक गई फिर उत्पन्न हुई वैसा ये शरीर है आज है कल नहीं है आज है कल नहीं है ये विचार चलता रहे ये मानसिकता चलती रहे तो फिर ये सारी जो विद्या होगी वो कुछ न कुछ फल को उत्पन्न करने वाली होगी ये दिन भर जो इतनी कक्षाएं चलती रहती हैं उन कक्षाओं में सारे यही चर्चाएं चलती रहती हैं लगभग शब्द अलग होते हैं विषय अलग होते हैं बातें वही की वही होती हैं उसका सार वही का वही होता है तो उसका परिणाम क्या है कि दिन भर जब हम वही वही बात सुनते हैं वही वही बात सुनते हैं तो हमारे विचारों के अंदर वो विषय उत्पन्न कहीं ना कहीं होते हैं और मौन रहेंगे तो सांसारिक चर्चाएं भी नहीं होंगी वो विषय ही नहीं आएंगे तो जो कुछ विषय फिर डालने का प्रयास किया जा रहा है वो जाके स्थिर रहेंगे और नहीं तो सांसारिकताएं होंगी तो ये जो विषय इतनी कठिनाई के साथ में भीतर डाले जा रहे हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं लेकिन उसके लिए स्वयं का प्रयास भी आवश्यक है ये तो अन्यों का प्रयास है जो विद्या को दे रहे हैं मेरा स्वयं का प्रयास मेरी उन्नति में क्या है और जब तक मेरा स्वयं का प्रयास इस प्रकार के विचारों को उत्पन्न करने का नहीं होगा तब तक मना स्थिति योगाभ्यास के लिए नहीं होगी तैयारी नहीं होगी तो ये सारे जो श्लोक बताए गए नचिकेता की विशेषताओं के बारे में बताए गए क्योंकि आगे चल कर के वो कुछ ऐसी जिज्ञासाओं को रख रहा है जो बड़ी कठिन है और उसको बताने वाले यमाचार्य भी आसानी के साथ में उसको बताने को तैयार नहीं है और उन प्रश्नों की जिज्ञासा जिस व्यक्ति को भी है उसको तभी संतुष्टि मिलेगी जब अपने आप को ऐसा पात्र बना करके चलेगा बहुत सारी शंकाएं हम लोग रखते हैं हमें उसका समाधान भी मिलता है लेकिन वास्तव में जिस स्तर की बात यहाँ पर की जा रही है वो एक व्यवहारिक स्तर की बात की जा रही है पहले जो ये आध्यात्मिक विद्या थी वो व्यवहारिक स्तर पर सिखाई जाती थी व्यवहारिक स्तर क्या है एक उपदेश कर दिया गया अब कहा छह महीने आप यही रहो और इसको ही व्यवहार में लाते रहो और जब व्यवहार में ले आओगे और ऐसा लगेगा कि आ गया है तो फिर छः महीने बाद उसको आपको दूसरी बात सिखा देंगे और नहीं तो फिर और छः महीना यहीं रहना तो वो सीधा व्यवहार के साथ में जुड़ी हुई बात होती थी आध्यात्मिक विद्या इसलिए यहाँ पर उस नचिकेता की जो विशेषताएं हैं वो जो वे, जिस व्यवहारिक स्तर पर वो पहले से ही तैयार है एक कुमार अवस्था के अंदर उसको बताया गया अब अगले श्लोक में वर्णन करते हैं वैश्वानर प्रवशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्य एताम शांतिम हर वैवस्वत उदकम अब यमाचार्य के आश्रम में नचिकेता पहुंचता है और संयोग से ऐसा होता है कि यमाचार्य वहाँ पे नहीं होते हैं कहीं बाहर गए हुए होते हैं और वो नचिकेता वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहा है अब देखिए दोनों ओर से कर्तव्य की बात यहाँ पर सीखने को मिलती है नचिकेता को चूँकि ये आज्ञा दी गई उसके पिता के द्वारा कि मैं तुम्हें यमाचार्य को दे रहा हूं तो अब वो यमाचार्य के आश्रम में पहुंचा तो उसको सूचना मिली कि यमाचार्य नहीं है तो यमाचार्य के आश्रम में जो लोग भी रहे होंगे उन्होंने उसको भोजन अन्न आदि के लिए जो भी पूछा आतिथ्य सत्कार के रूप में उसने निषेध किया कि जब तक यमाचार्य नहीं आएंगे तब तक मैं इसको ग्रहण नहीं करूंगा ये उसकी तरफ से उसकी व्यवहारिकता थी क्योंकि उसका जो एक दिया जाना है पिता के द्वारा आज्ञा दी गई है वो यमाचार्य के लिए दी गई है कि तुमको यमाचार्य को दे दिया है अब दे दिया है तो जब तक वो यमाचार्य का आदेश नहीं होगा जब तक उनकी आज्ञाएं नहीं होंगी और वो मेरे को ठीक प्रकार से निर्देश नहीं कर देंगे तब तक मुझे कुछ करना नहीं है कुछ ग्रहण नहीं करना है अब ये आश्रम ये घर यमाचार्य का है और मैं उनकी शरण में आया हूँ तो वो जैसा कहेंगे वो जब निर्देश करेंगे तभी कुछ ना कुछ होगा उसके बिना कुछ करने वाला मैं नहीं हूँ ये उसकी दृढ़ता थी ये उसका कर्तव्य भी था और वो उस पर बिल्कुल निष्ठ भी था तो यही एक व्यवहार उसकी ओर से अपेक्षित है ही क्योंकि वो योगाभ्यासी हैं वो एक ईमानदारी के साथ में कर्तव्यों का पालन कर रहा है और वो अपने कर्तव्यों को भली प्रकार से जानता भी है कि मुझे किस स्तर का व्यवहार करना चाहिए तो उसकी तरफ से वो कर्तव्य हुआ लेकिन यमाचार्य तो है नहीं तो अब क्या स्थिति है उसका वर्णन करते हैं कि यमाचार्य जब आए और जब उनको जानकारी मिली कि एक बालक आया हुआ है तीन दिन हो गया है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है वो कुछ भी आतिथ्य ग्रहण किया नहीं है उससे प्रवेश नहीं किया है घर में और वो आपकी प्रतीक्षा में है तो उस स्थिति का यह वर्णन करते हैं कह वैश्वानर वैश्वानर शब्द का अर्थ होता है तेजस्वी उस बालक के लिए नचिकेता के लिए विशेषण प्रयोग किया कि तेजस्वी है वो तेज है उसके चेहरे में और कहते हैं ब्राह्मणों वो ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के कई सारे अर्थ होते हैं वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भी ब्राह्मण आता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यहाँ ब्राह्मण का अर्थ है कि ब्रह्म में जो निष्ठ है ईश्वर में जो स्थित है ईश्वर को मानने वाला है आस्तिक है क्योंकि इतनी विशेषताएं इतने विशिष्ट गुण उस छोटी अवस्था के बालक में है कुमार में है तो निश्चित रूप से वो आस्तिक है ईश्वर में उसकी आस्था है उसको मानने वाला है कह रहे अतिथि है वो अतिथि माने क्या होता है आप जानते हैं जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है तो आ गया है वो वो निश्चित नहीं था कब आएगा कब नहीं आएगा तो कह रहे वो वैश्वानर है वो ब्राह्मण है वो अतिथि है कह रहे गृहान प्रविशति घर में आया हुआ है तो अब क्या करना है कृतस्य एताम शांतिम कुरवंती कि उसको शांत करो क्योंकि वैश्वानर के समान तेज है उसमें और तीन दिनों से है तो आपके घर में है सबसे पहले आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको जाके शांत करें अब देखिए उसका कर्तव्य क्या है एक तो नचिकेता की तरफ से बताया गया उसका कर्तव्य क्या था उसने किया है लेकिन अब यमाचार्य घर में आए हैं तो तीन दिन से कोई व्यक्ति बाहर गया और घर में आया हो तो सबसे पहले क्या करेगा वो वो सबसे पहले अपने विषय में ही विचार करेगा सामान्य व्यक्ति होगा तो लेकिन उसे कहा गया कि नहीं तीन दिनों से एक व्यक्ति आया हुआ है तो सबसे पहले अपना काम छोड़ करके उसको प्रेरणा भी दी जा रही है कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है हर उदकम एक परंपरा थी हमारी कि सबसे पहले और अब भी हैं कि बाहर से व्यक्ति कोई आए तो क्या करेंगे पहले उसको जल देंगे तो दो शब्दों का प्रयोग होता था हमारी परंपरा में एक होता है अर्ध्य और एक होता है पाद्य यानी पहले ये परंपरा थी कि घर में कोई भीतर आ रहा है तो उसके पैर बाहर ही धुला दिए जाते थे और उसको पीने के लिए आचमन के लिए जल दिया जाता था तो उस, उसी परंपरा के अनुरूप कह रहे हैं कि भाई उदकम हरा ये जल लेकर के जाओ और उसको भीतर प्रवेश कराओ ताकि वो शांत तो हो शांत माने जिसके घर हम जा रहे हैं वो है ही नहीं तो अशांति तो होती है और एक घंटा नहीं है दो घंटा नहीं है चार घंटा नहीं है तो अशांति होती है जैसे आप लोग आते हैं और पंजीकरण में बहुत भीड़ है आप पचास लोग खड़े हैं आपके आगे तो जब तक आपका क्रमांक नहीं आएगा तो अशांति तो रहती है पता नहीं कब होगा कब होगा कब होगा कब स्थान मिलेगा कब ये होगा तो जब तक जिस प्रयोजन के लिए हम कहीं भी गए हों यहाँ हो चाहे कहीं भी हो जिस प्रयोजन के लिए हम गए हों और वो प्रयोजन जब पूरा नहीं हो रहा है तो अशांति तो होती है कब हो जाएगा ये तो जिसके घर पे व्यक्ति गया है उसका कर्तव्य क्या है कि इसका ये किसी प्रयोजन के लिए आया तो मैं इसको शांत करूं या शांत है अभी तो उसकी शांति के लिए उसके पास में जाए तो वहाँ से शांति शुरू होगी कि चलो कोई आ तो गया है कहीं टिकट लेने खड़े हुए हैं रेलवे काउंटर पे और टिकट देने वाला है ही नहीं तो अशांति तो है लेकिन जब वो आके बैठ गया थोड़ी शांति तो मिली जाती कि चलो टिकट मिल तो जाएगा तो वो कह रहे कि पहले जाओ तो सही पहले वो देख तो ले आपको और ये जल से उसको आप आचमन है और जो भी एक सम्मान किया जाना है वो सब उसको दो तो उसको थोड़ी शांति तो मिलेगी तो कह रहे इसलिए कहा कि उसकी शांति सबसे पहले की जाए अतिथि की शांति की जाए और अतिथि की शांति नहीं की जाती तो क्या होता है उसके विषय में एक यहाँ बात कही जा रही है अगले श्लोक में पढ़ते हैं आशा, प्रतीक्षे संगतम, सोनृताम चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश सर्वान एतद वृंगते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनश्नन वसति ब्राह्मणों गृह अब अतिथि आया है ब्राह्मण है यानी पात्र व्यक्ति है तेजस्वी है अब उसके विषय में कहा कि यस्य अनश्नन वसति ब्राह्मणों गृह क्योंकि विशेष पात्र है और बहुत विशेष योग्यता वाला कोई व्यक्ति आकर के अशांत हो तो क्या होगा ज़्यादा हानि की संभावनाएं हैं सामान्य व्यक्ति हमसे रुष्ट हो जाए कुपित हो जाए असंतुष्ट हो जाए तो कोई विशेष हानि नहीं होगी लेकिन बहुत योग्य व्यक्ति कोई हमसे नाराज हो जाए असंतुष्ट हो जाए तो थोड़ा भय तो रहता ही है मन के अंदर कि पता नहीं क्या होगा तो कहते हैं यस्य अनशन वसतो गृह यस्य गृह जिसके घर में अनशन भूखा प्यासा क्योंकि थोड़ा बहुत ग्रहण भी किया हो तो जब तक मुख्य प्रयोजन पूरा नहीं होता तो व्यक्ति मन लगा करके यानी अच्छी प्रकार से खाता पीता भी नहीं उसका मन तो उसी में लगा रहता है तो कहते हैं वो भूखा प्यासा जैसा ही है क्योंकि मेरे अभाव में पता नहीं ठीक प्रकार से उसने लिया भी होगा कि नहीं हुआ लिया होगा ठीक प्रकार से दिया भी शायद नहीं गया होगा न्यूनताएं किसी भी और से हो सकती हैं तो कह रहे वो ब्राह्मण है सबसे बड़ी बात है कि वो ब्राह्मण है और वो भूखा प्यासा मेरे घर में है कह रहे तीन दिनों से हैं तो अब जिसके घर में ऐसा अशांत अतिथि क्योंकि पिता से अशांत है मैं आया तो मैं भी नहीं था वहाँ भी अशांत है वो तो वो हर प्रकार से अशांत ही है और मन में कितनी जिज्ञासाएं हैं वो जिज्ञासाएं भी उसको अशांत कर रही हैं तो इस प्रकार से वो काफ़ी अशांत है और जिसके घर में ऐसा व्यक्ति रहे अशांत हो और उसको जाकर के शांत न किया जाए तो क्या होगा तो कहते हैं आशा प्रतीक्षे कि आशा कि जिन वस्तुओं की आशा मुझको है कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा ऐसा होगा प्रतीक्षे कई चीज़ों की आशाएं नहीं भी हैं यानी जीवन में हमको हर वो चीज़ ही नहीं मिलती जिसकी आशा मुझे होती कई चीज़ें ऐसी मिल जाती जिसकी आशा नहीं भी होती तो राजेश जी हैं भोजन में जाते हैं हम लोग तो मन में आशाएं होती आज ये मिलेगा शायद कुछ अधिक भी मिल जाता है तो कुछ की आशाएं भी होती हैं दाल चावल तो मिलेगा ही और कुछ प्रतीक्षा होती है कि कुछ अतिरिक्त भी मिल जाएगा तो जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हमने उम्मीद लगाई हुई है कि ये मिलना चाहिए वो होना चाहिए ऐसा काम होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ आकस्मिक अपने आप हो जाती है वो प्रतीक्षे के नाम से कहा गया कह रहे संगते वो दोनों चीज़ ही नष्ट हो जाती है वो दोनों ही नहीं मिलती उसको किसको जिसके घर में अतिथि भूखा प्यासा बैठा है और वो विशेष योग्य व्यक्ति है पात्र व्यक्ति है वो असंतुष्ट है अशांत है वो और ऐसे व्यक्ति को शांत नहीं किया गया तो जिसके घर में है उसको मिलने वाली और ऐसी वस्तु जो संयोग से अकस्मात मिल जाती वो दोनों ही खत्म हो जाएंगे उसको मिलेगी नहीं और क्या होगा सोनृताम कह रहे उसकी वाणी में कटुता आएगी क्योंकि जिसके घर में अशांत व्यक्ति है वो उसको भी अशांत करेगा और अशांत करेगा तो क्या होगा जिसके दिमाग में अशांति है वो मधुर भाषण कहाँ से करेगा मीठा बोलना चाहिए लेकिन मीठा बोलने के लिए अंदर मीठा होना तो चाहिए अंदर मीठा होगा तो मीठा निकलेगा और भीतर अशांति है मन में असंतुष्टि है खिन्नता है तो कटुता ही होगी वाणी के अंदर कभी वहाँ पर मधुर भाषा का प्रयोग नहीं होने वाला है वो दूसरे के साथ में क्रोध करेगा उसके साथ में नहीं करेगा यदि घर में आकर के कोई व्यक्ति ऐसा रहे तो दूसरे के ऊपर तो क्रोध करेंगे ना कि भाई आपने कुछ किया ही नहीं उसके लिए आपने उसकी देखभाल ही नहीं की उसको पूछा ही नहीं जो घर पे लोग रह रहे हैं उस पर क्रोध करेंगे क्रोध करेंगे तो कटु भाषा होगी खिन्नता होगी और कटु भाषा होगी मधुर भाषा होगी नहीं तो क्या होगा बुद्धि के अंदर अशांति होगी और जब बुद्धि के अंदर अशांति होगी तो निर्णय प्रभावित होंगे जो सही निर्णय लिए जाने वो नहीं लिए जाएंगे गलत निर्णय होंगे और गलत निर्णय होने पर क्या होगा प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगे और प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगे तो जो वस्तुएं मिलने की आशाएं हैं वो मिलेगी नहीं क्योंकि हम ठीक ढंग से काम ही नहीं कर पाएंगे और जो वस्तु संयोग से मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी तो एक चीज का प्रभाव कहाँ कहाँ तक पड़ रहा है उसको दिखा रहे हैं कि अशांत व्यक्ति बैठा है उसने मुझे अशांत किया मेरी अशांति से मेरी वाणी में कटुता हुई वाणी की कटुता से क्या हुआ दूसरे के साथ संबंध खराब हुए और वो संबंध खराब होने से जो मेरे प्रयोजन सिद्ध होने चाहिए थे वो नहीं हुए और यही नहीं और आगे बोलते हैं इष्टा पूर्ते कि जो इष्ट माने होता है यज्ञ आदि जो भी शुभ कर्म किए हैं और पूर्ते यानी परोपकारार्थ जो काम किए गए दान दिया गया या दूसरे के सहयोग सहायता की गई कह रहे वो भी बेकार ही जाएंगे वो क्यों बेकार जाएंगे कि जब मन में खिन्नता है और व्यक्ति कोई अच्छा काम करने बैठ भी जाए वो यज्ञ करने बैठ भी जाए तो उस यज्ञ के अंदर उसकी एकाग्रता नहीं होने वाली वो बैठेगा तो सही सूर्यो ज्योतिर ज्योतिर सूर्य स्वाहा फिर वो अग्निर ज्योतिर उसको मंत्र याद ठीक से नहीं होंगे कौन सा मंत्र बोलना था कौन सा बोल दिया क्योंकि मन एकाग्र नहीं है उसमें त्रुटियां होंगी और जब उस यज्ञ में त्रुटियां होंगी तो यज्ञ का जो फल मिलना चाहिए वो कहां से मिलेगा नहीं मिलने वाला है क्योंकि विधि पूर्वक वो काम किया जाएगा तो फल मिलेगा और विधि में त्रुटियां होंगी तो जैसा फल मिलना चाहिए तो वो नहीं मिलेगा तो एक चीज़ का प्रभाव कहाँ कहाँ तक जा रहा है कि फिर उसका कोई शुभ कर्म किया जा रहा है उसका भी फल उसको नहीं मिलेगा क्योंकि शुभ कर्मों को, को वो ठीक प्रकार से कर ही नहीं पाएगा ऐसे ही दूसरे के परोपकार के लिए काम जो करेगा एक तो उसकी बुद्धि उसमें प्रवृत्ति ही नहीं होगी जब वो खुद ही अशांत है तो अच्छे काम करने की प्रवृत्ति होगी ही नहीं अच्छे काम करने की प्रवृत्ति व्यक्ति कब होती है जब मन के अंदर सात्विकता होती है मन के अंदर सात्विकता है ही नहीं तो शुभ कर्मों की प्रवृत्ति नहीं होती है इसलिए उसका फल तो बहुत दूर की बात है इसलिए कहा कि जो अच्छे काम हैं यज्ञ हैं या दूसरों के परोपकार के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो भी उसके व्यर्थ हो जाएंगे तब पुत्र पशु सर्वान कैसे ही उसके पुत्र हैं जो भी साधन हैं वो खुद ही अशांत है तो सबके ऊपर क्रोध करता रहेगा और सबके ऊपर क्रोध करता रहेगा तो वातावरण के अंदर खिन्नता आ जाएगी इसलिए वहां भी अशांति होगी और कहा पुरुषस्य अल्प मेधसो कह रहे उसकी बुद्धि कम हो जाएगी मेधा तो उसके अंदर होगी बुद्धिमान वो है लेकिन मन की अशांति से क्या होगा उसकी बुद्धि के अंदर भी विकृति आएगी यानी रजोगुण उभर जाएगा तामसिकता आएगी निर्णय प्रभावित होंगे वो अल्प मेधा वाला हो जाएगा तो एक चीज ने कहां कहां तक प्रभावित कर दिया उसको क्योंकि हर चीज दूसरे के साथ जुड़ी हुई है मन की शांति के साथ में वाणी का प्रयोग जुड़ा हुआ है वाणी के प्रयोग के साथ में उसके कार्य के प्रयोजन जुड़े हुए हैं कार्य के प्रयोजन के साथ में उसके सुख शांति जुड़ी हुई है हर चीज एक दूसरे के साथ में कड़ी से कड़ी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है इसलिए कहा ये कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है दुर्गामी परिणाम उसको दिखाए जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक उसके दुर्गामी परिणाम होंगे क्योंकि यदि एक व्यक्ति की प्रसिद्धि है कि वो धार्मिक है और उसके घर में कोई ब्राह्मण भूखा प्यासा बैठा है तो अप्रतिष्ठा किसकी होती जिसकी प्रतिष्ठाएं ज़्यादा होती हैं तो एक यमाचार्य है वो इस रूप में प्रतिष्ठित है कि एक आचार्य है तो एक सामान्य व्यक्ति के घर में कोई भूखा प्यासा रहे तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक आचार्य के घर में कोई ब्राह्मण भूखा प्यासा रहे तो लोग क्या बोलेंगे कि आचार्य के घर में भूखा प्यासा है तो प्रतिष्ठा हानि तो होगी तो एक एक चीज का प्रभाव कहाँ कहाँ तक जाता है हम उसको विचार नहीं सकते हैं तो ये बात कहें कि एक ब्राह्मण है अतिथि है तो अतिथि सत्कार कितना महत्वपूर्ण है इस बात को यहाँ से समझ सकते हैं कि आतिथ्य करना अतिथि सेवा करना अतिथि सत्कार करना ये बड़ा आवश्यक है नहीं तो उसका जो परिणाम है दुष्परिणाम हो स्वयं को भोगना पड़ता है और ऐसी स्थिति में जहां अतिथि श्रेष्ठ है ब्राह्मण है विद्वान है उसका सत्कार न किया जाए तो जीवन कहाँ तक प्रभावित हो सकता है उस स्थिति का यह वर्णन किया गया तो नचिकेता यम के पास पहुंचे आप सामान्य रूप में देखेंगे तो एक कथा की तरह लगेगा कि एक यज्ञ किया वाशवस ने फिर नचिकेता को भेज दिया फिर वो यम के पास पहुंच गया तीन दिन ऐसा है एक कथाकार की तरह कथा भी की जा सकती है लेकिन उसको थोड़ा विचार करने का प्रयास करेंगे हर एक चीज़ के अंदर तो इतनी विशेषताएं उन पंक्तियों के अंदर मिलेगी तो वादश्रवस के विषय में यहाँ वर्णन किया कि वो पात्र व्यक्ति नहीं भले पिता हो वो ब्रह्म विद्या का पात्र नहीं है लेकिन नचिकेता एक ब्रह्म विद्या का पात्र है क्यों है ये सारा वर्णन हमने कल भी पढ़ा आज भी पढ़ा क्योंकि वो धर्मनिष्ठ है सत्यवादी है निर्भीक है वो संसार के अनित्यता को समझता है विचारशील है वो अपने कर्तव्य को जानता है कि कहाँ पर जाकर के कैसा व्यवहार किया जाना है उस पर भी वो दृढ़ है तो ये सारी उसकी पात्रताएं हैं और यह पात्रता उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो योगाभ्यास की ओर प्रवृत्त होता है आगे चल कर के और बहुत सारी विशेषताएं आएंगी बहुत सारे ब्रह्म विद्या के विषय में चर्चाएं आएंगी आज इसको यहाँ विराम देंगे फिर आगे कल हम पढ़ेंगे आइए ओम ध्वनि का उच्चारण तीन बार कर लें ओ